और वो अल्लाह ताला के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो उन्हें ना ही नफ़ा पहुंचा सकते हैं और ना ही उन्हें नुकसान दे सकते हैं और काफिर अपने रब ही के खिलाफ मददगार बना हुआ है